दरअसल विक्रांत ने नैना के पास अपना अदृश्य माइक सेट कर दिया था जिससे उसे नैना और उसकी माँ के बीच हो रही सारी बातचीत साफ साफ सुनाई पड़ रही थी विक्रांत का खून खोल उठा उसे नैना से कभी इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी उसे लगता था कि भले ही नैना उसे इतना चिढ़ती है लेकिन कभी भी इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घोपेंगी अभी आधे घंटे पहले की ही बात है नैना ने उससे खुद ही कहा था कि वो उसके साथ मिलकर मंजू के मर्डर केस पर काम करेगी और अब देखो इतनी ही देर में इसका असली रंग सामने आ गया ये इतनी शातिर हो सकती है मैंने तो सोचा भी नहीं था और मैं मैं इसके इतने बहकावे में आ गया था कि मैं सच में हर किसी से छुप कर रह रहा था मुझे तो लगा कि मैं सच में किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा हूँ शिट शिट इसको तो लाइन पर लाना ही पड़ेगा मैं बताता हूँ इसे अभी इसे अंदाजा भी नहीं है कि इसने किसके साथ पंगा लिया कमी नहीं विक्रांत अपने दांत पीसते हुए मन ही मन नैना को जी भर के गालियां दे रहा था उधर नैना को कुछ खबर नहीं थी उसकी सारी बातें विक्रांत भी सुन रहा है वो बेधड़क होकर अपनी माँ से बातें किए जा रही थी तभी अचानक से उसकी माँ ने पूछा अच्छा नैना तुम तुम पनवेल ब्रांच से कैप्टन की पोस्ट छोड़कर इसलिए डीएन नगर ब्रांच में सिर्फ टीम लीडर बनकर गई हो ताकि तुम उन्नीस वाले किडनैपिंग केस पर काम कर सको है ना अरे हाँ हाँ मेरी माँ हाँ तुम्हें ना जाने कैसे सब पता चल जाता है नैना ने जवाब दिया और मैं मैं तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले साजिद को इंटेरोगेट करने के लिए गई थी ताकि पता लगा सकूं कि मंजू के मर्डर का कनेक्शन किडनैपिंग केस से है या नहीं क्या पता साजिद को सिर्फ बली का बकरा बनाया गया हो और पता है माँ क्या हुआ वो इडियट भी यही पता करने के लिए वहाँ साजिद के पास पहुँचा हुआ था और मुझे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था बोल रहा था कि मेरे पास शक्ति है मैं किसी को भी वश में करके उसे सब सच सच बुलवा सकता हूँ फिर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी उसे सबक सिखा दिया पता है माँ मैंने उसे बच्चों वाला खिलौना पकड़ा कर कह दिया कि ये सीक्रेट फोन है <laughs> अब वो उसे अपने हाथ में पहन के घूम रहा है आखा नैना जोर जोर से फोन पर हंसने लगी विक्रांत गुस्से से लाल हो चुका था उसका शरीर तमतमा उठा जी कर रहा था कि अभी के अभी नैना का मुंह तोड़ कर रख दे नैना बेटा ये गलत बात है ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ नैना की माँ ने उसे समझाते हुए कहा और फिर क्या हुआ मंजू का कुछ कनेक्शन निकला हम्म, हो सकता है कि मंजू का मर्डरर कोई और हो लेकिन उसका कनेक्शन किडनैपिंग केस से हो ये ये मैं श्योर नहीं हूँ नैना ने जवाब दिया क्यों क्योंकि पहले जब इस किडनैपिंग केस के इन्वेस्टिगेशन को बंद किया गया था तो वो इस वजह से बंद हुआ था क्योंकि काफी दिनों तक हाथ पैर मारने के बाद भी किडनैपर्स के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था अब आप खुद ही सोचिए कि जब किडनैपर के बारे में उस वक्त कुछ पता नहीं चल पाया था तो अब वो भला कैसे किसी का मर्डर करके खुद को लाइट में ला सकता है और ऊपर से मंजू सचदेवा तो पुलिस ऑफिसर थी उनका मर्डर करने पर वो और ज्यादा मुसीबतों में पड़ सकता है उनका मर्डर वो भला क्यों करेगा नैना ने कहा और अगर सच में मंजू को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो किडनैपिंग केस पर काम कर रही थी तो फिर तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस केस पर काम कर रहे हैं खास तौर पर तो वो इडियट विक्रांत वो भी तो इतनी शिद्दत से काम कर रहा है उसका तो पहले ही मर्डर हो जाना था हम्म अच्छा बेटा मेरी बात सुनो नैना की माँ ने दूसरी तरफ से कहा तुम अभी किडनैपिंग वाले केस पर ध्यान दो जिसके लिए तुम वहाँ गई हो ये मंजू के मर्डर केस में मत फंसो अगर साजिद ने मंजू का मर्डर नहीं किया है तो एक बात समझ लो कि ये केस बहुत डेंजरस है तुम किडनैपिंग वाले केस में काम करने के बाद किसी दूसरे काम में लग जाना मंजू के केस से दूर रहना तुम्हें मॉम फिर से शुरू हो गई ना तुम मैं मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं नहीं बेटा मैं अब तुम्हें कोई भी गलती नहीं करने देना चाहती नैना की माँ ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए कहा अगर डीएन नगर के ब्यूरो चीफ तुम्हारे काम के आड़े आ रहे हो तो बताओ मैं तुरंत उनका ट्रांसफर कर देती हूँ और अगर तुम्हारे ब्रांच में कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो बताओ मैं पनवेल ब्रांच के तुम्हारे मनपसंद ऑफिसर्स की यहाँ डीएन नगर ब्रांच में ट्रांसफर कर दूंगी एक मिनट एक मिनट ये नैना की माँ कौन है ये ऐसे कैसे ट्रांसफर करने की बात कर रही है विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था जैसे जैसे वो उन दोनों की बातें सुनता जा रहा था उसकी कंफ्यूजन बढ़ती जा रही थी नहीं मोम प्लीज आप कुछ मत करना अब पिछली बार जब मेरी ब्यूरो चीफ से लड़ाई हुई थी तब आपने तुरंत ही उनका ट्रांसफर कर दिया था और फिर मेरे डिपार्टमेंट वालों को भी शक हो गया था मेरे से बात करने में भी लोग डर रहे थे ऐसे तो कोई मुझसे दोस्ती करने से भी डरेगा हाँ तो क्यों ना करती उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो उसको तो सबक सिखाना जरूरी था ना नैना की माँ ने जवाब दिया अच्छा मैं मैं तुम्हारे अंकल अमृत को बोल दूंगी वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उनको बोल देना हे भगवान ये क्या ये कौन है जब इसने सिर्फ थोड़ी सी बात और ब्यूरो चीफ का ट्रांसफर कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा मैं आ, मैंने तो नैना को किस किया था कि विक्रांत की धड़कन तेज होगी वो काफी डरा हुआ लग रहा था नहीं मोम प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी नैना ने चिढ़ते हुए कहा अगर आप ऐसा करोगी तो फिर मैं बात भी तो नहीं करूंगी आपसे बच्चे तुम मेरी बेटी हो चिंता है मुझे तुम्हारी और मैं अगर तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी तो फिर कौन सोचेगा तुम्हें मैं खतरे में नहीं डाल सकती ना नैना की माँ ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है मैं ऑफ रोड आ गई हूँ यहाँ नेटवर्क नहीं है आपकी आवाज नहीं आ रही है मैं बाद में बात करती हूँ बाय बाय इतना कहते हुए नैना ने फोन रख दिया इसके बाद विक्रांत के सिस्टम से आने वाली आवाज बंद हो गई विक्रांत गहरी सांस लेते हुए बैठ गया उसके कानों में जतिन की कही हुई बात गूंजने लगी उसी ने विक्रांत को बताया था कि नैना का बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है वो बहुत पावरफुल है और उसने चुटकी बजाते ही ब्यूरो चीफ तक का ट्रांसफर करवा दिया था विक्रांत फिर से अपने गुस्से की घूट पीकर रह गया गुस्सा डर और कंफ्यूजन इस वक्त विक्रांत ये तीनों चीजें एक साथ अनुभव कर रहा था उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इस शिकारी का भी कोई शिकार कर जाएगा यानी कि नैना का यहाँ डीएन नगर ब्रांच पर आना सब कुछ उसकी प्लानिंग थी और वो जानबूझकर यहाँ आई हुई है वो हमेशा से उन्नीस वाला किडनैपिंग केस सॉल्व करना चाहती थी ये मंजू मैडम का मर्डर केस और सीक्रेट मिशन सब कुछ बस मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई झूठी कहानी है अब जबकि विक्रांत को सारी सच्चाई पता लग चुकी थी तो अब वो नैना से अपना बदला लेने का प्लान बनाने लगा लेकिन इस बीच नैना की माँ का ख्याल आने से वो भयभीत हो उठा विक्रांत मनी मन सोचने लगा कि आखिर नैना की माँ है कौन वो कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई बड़ी लीडर और अगर बड़ी लीडर भी है तब भी उसे इस तरह से इतने बड़े ऑफिसर का ट्रांसफर करने की बात तो नहीं करनी चाहिए ना लेकिन एक बात तो पक्की है अगर मैंने उसकी बेटी के साथ कुछ भी किया तो फिर वो पक्का मुझे भी नहीं छोड़ेगी नैना तो बहुत शातिर निकली और डेंजरस भी उसका कोई कुछ नहीं कर सकता इसके साथ ही विक्रांत को एक बात ये भी समझ में आ रही थी कि जिस तरह से नैना ने उसे अपने जाल में फंसाया उसे देखकर तो साफ लग रहा है कि मंजू मैडम के मर्डर में किसी न किसी अंदर वाले का जरूर हाथ है अपने लाइट डिटेक्टर मशीन से विक्रांत ने इतना तो पता लगा लिया था कि मंजू का कत्ल साजिद ने नहीं किया बल्कि इसके पीछे किसी और का हाथ है और शायद इसी वजह से विक्रांत बड़ी आसानी से नैना के लगाए हुए जाल में फंस गया था जिन लोगों ने मंजू मैडम का मर्डर किया है वो वाकई में काफी खतरनाक लोग हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी निर्भीकता से एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया है इस ख्याल के साथ विक्रांत थोड़ा और डर गया अब अगर वो मंजू सचदेवा जैसी इतनी सीनियर ऑफिसर को मौत के घाट उतार सकते हैं तो फिर उनके लिए मेरे जैसे छोटे ऑफिसर को मारना तो बाएं हाथ का खेल है अब मैं मंजू के केस पर काम करूं कि ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ भी हो मुझे अब बहुत सावधानी से अपना काम करना होगा एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा